Упражнение 3. Слитное чтение. मैं छात्र हूँ मीना छात्रा है हम सब छात्र हैं वो हमारा दोस्त है सतीश और रमेश मेरे मित्र नहीं हैं तुम क्यों स्कूल में नहीं हो यहाँ किताबें नहीं हैं शीला और मीना स्कूल गईं वे कब आईं वे औरतें क्यों नहीं आईं